जैन बौद्ध कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक चौबीस बुद्ध पुरुष अर्थात जीवित मंदिर मौन का भाग दो जिन लोगों ने मन की गहरी खोज की है वे कहते हैं सब छूट जाता है आते दूसरे जन्म में भी पीछा करती वो जो आदमी उदास पैदा होता है उदास मरता है उदास पैदा होता है वो जो आखिरी घड़ी की स्थिति थी वो जो जिंदगी भर की आदत का सार निचोड़ था वो पीछा करती इसलिए हर बच्चे में जन्म के साथ भेद है भेद क्या है भेद आदतों का है जो पहले उसने बनाए मैंने सुना है एक आदमी मरा वो आदमी एक होटल में बैरा था और उस होटल में आने जाने वाले लोग उससे बड़ा प्रेम करते थे उस जैसा सेवक खोजना कठिन था विनम्र हर वक्त दौड़ा हुआ जो भी कहो बेहतर से बेहतर करने को तत्पर उसकी टेबल पर बड़ी भीड़ रहती थी अक्सर क्यों लगा रहता था उसकी टेबल के लिए फिर वो मरा तो उसकी पत्नी बड़ी दुखी थी तो एक प्रेतात्म वित्त के पास गई बड़ी कोशिश की उसकी आत्मा को बुलाने की लेकिन उसकी आत्मा नहीं आ सकी तो प्रेतात्म विद ने कहा कि तेरा पति करता क्या था तो उसने कहा कोई तीस साल से वो एक होटल में बह रहा था एक ही होटल में तो उसने कहा कि तो उसे यहां बुलाना कठिन होगा बेहतर होगा हम होटल में ही चले आशा इस बात की है कि आत्मा वहीं आसपास भटक रही हो पुरानी आदत तीस साल तो वो प्रेतात्मविद उस स्त्री को लेके होटल में गया है एक कोने में बैठ के एक टेबल पर उन्होंने बुलाने की कोशिश की तत्क्षण आवाज उत्तर में आई कि हां मैं हूं लेकिन बड़ी धीमी आवाज थी होटल में बहुत लोग शोरगुल था तो पत्नी ने कहा बड़े खुश हो गए कि मैं बड़ी प्रसन्न हूं कि तुम हो वहां के संबंध में कुछ और कहो लेकिन जरा जोर से बोलो उसने कहा और जोर से मैं नहीं बोल सकता बहुत भीड़ भाड़ है और शोरगुल है यहां तो पत्नी ने कहा कि तुम थोड़े करीब क्यों नहीं आ जाते उसने कहा कि मैं तुमसे काफी दूर हूं पत्नी ने कहा करीब आ जाओ उसने कहा वो मैं न कर सकूंगा वो मेरी टेबल नहीं वो अपनी ही टेबल आसपास आदमी मर जाए तो भी ले जाता है संस्कार संस्कार यानी आदत बहुत गहरी चली गई आदत सबसे गहरी आदत तुम्हारे भीतर उलझे रहने की है काम में उलझे रहने की काम बदल जाते हैं जन्मों जन्मों में तुमने न मालूम कितने काम किए लेकिन एक आदत हमेशा मौजूद रही कुछ ना कुछ करने की व्यस्त ऑक्युपाइड तो काम बदलने से तुम्हें अड़चन नहीं होती तुम अखबार छोड़ के रेडियो सुन सकते हो रेडियो बंद करके तुम कार साफ कर सकते हो काम तुम बदल सकते हो लेकिन अकाम की हालत में तुम नहीं हो सकते एक काम से दूसरे में जाने में इतनी अड़चन नहीं क्योंकि व्यस्तता जारी रहती जेन कहता है धर्म की सारी कला अव्यस्त अनऑक्युपाइड होना है इसलिए साधारण कर्मी लोगों को कर्मठ लोगों को तो जैन फकीर आलसी और काहिल मालूम होते हैं कि सिर्फ बैठे निठल्ले कुछ भी नहीं कर रहे जापान में भी उनकी निंदा और आलोचना होती रही है भारत में भी होती है जहां भी धर्म पैदा होता है वहीं खाली बैठने की कला की शुरुआत होती है संन्यास का अर्थ है खाली बैठने की कला समाज में आलोचना शुरू होती कर्मठ लोग हैं वे कहते हैं कुछ ना करो कम से कम सेवा तो करो इतने गरीब हैं इनकी सेवा करो बीमार हैं इनकी सेवा करो अस्पताल चले जाओ खाली बैठने से क्या होगा लेकिन सेवा भी व्यस्तता है तुम दुकान छोड़ दिए अस्पताल जाने लगे तुमने अपना धंधा छोड़ दिया तो तुम सेवा में लग गए लेकिन धंधा जारी है तुम व्यस्त हो ये जारी है सेवा तो वही कर सकता है जिसने अव्यस्त होना पहले सीख लिया अगर एक काम से तुम दूसरा काम बदल लेते तो तुम ध्यान को कभी उपलब्ध ना होगे ध्यान के लिए बीच में अंतराल चाहिए तुमने सब काम छोड़ दिया और तुम बिल्कुल बेकाम होकर बैठ गए और इस बेकाम हालत में तुम्हारे मन में कोई बेचैनी पैदा नहीं होती धीरे धीरे मन की दौड़ सिकुड़ती जाती मन का जाल सिकुड़ता जाता है तुम संसार से टूटते जाते हो तुम्हारी जड़ें उखड़ती जाती तुम्हारा रुख इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ होने लगता है जब तुम बिल्कुल व्यस्त नहीं होते तब तुम्हारी जीवन ऊर्जा कहां जाएगी वो अपने में ही ठहर जाएगी और जब जीवन ऊर्जा अपने में ठहरती है उस स्थिति का नाम ध्यान है तो छह घंटे जेन कहता है कि हर आदमी को बैठे ही रहना चाहिए अगर तुम कभी बुद्ध गया गए हो और तुमने बोधि वृक्ष देखा है तो बोधि वृक्ष के पास एक छोटी सी टहलने की जगह उसको बुद्ध का चरिया पथ कहते जहां बुद्ध चंक्रमण करते थे क्योंकि बुद्ध घंटों बैठे रहते छह घंटे आठ घंटे फिर पैर जड़ हो जाते थे तो उठ के वो वो जो मंदिर के बगल में थोड़ी सी जगह है वहां चल लेते वो चल के सिर्फ पैर में खून फिर चल जाए फिर शरीर ढंग पे आ जाए फिर जाकर बोधि वृक्ष के नीचे बैठ जाते बैठ बैठ के बुद्ध ने बुद्धत्व पाया चल चल के किसी ने बुद्धत्व नहीं पाया वो चलते भी थोड़ा से थे तो सिर्फ इसलिए कि फिर बैठ सके और तुम अगर बैठते भी हो थोड़ा तो इसीलिए कि फिर चल सको बस वही बुनियादी फर्क तुम अगर रात आराम भी करते हो इसलिए कि ताकि सुबह से धंधे में ठीक से लग जाओ तुम्हारा आराम भी काम में नियोजित है बुद्ध का इतना ही कुल काम था कि वो थोड़ा सा कभी चार छह घंटे के बाद दस पचास कदम चलते थे वो चलना सिर्फ इसलिए था ताकि शरीर फिर बैठने में सक्षम हो जाए सारी प्रक्रिया बदल गई श्वास भी इसलिए ले रहे हैं चल भी रहे हैं इसलिए भिक्षा मांगने भी जाते हैं पानी भी पीते हैं लेकिन सारी प्रक्रिया जो कुछ भी करते हैं वो इतना सा ही करने के लिए है ताकि खाली होकर बैठ सके अव्यस्त होकर बैठ सके तब बड़ी थोड़ी सी व्यस्तता बचती है न्यून अति न्यून अत्यंत आवश्यक उतनी न्यून व्यस्तता के साथ और अव्यस्त रहने में राजी होने के साथ ध्यान का फूल लगता है तोयफू के मंदिर में सोची ने सूत्रों का पाठ भी बंद करा दिया मंदिर के घंटे सो गए सोची के शिष्य सिवाय ध्यान के कुछ न करते फिर वर्षों तक ऐसा ही रहा लोग भूल गए कि पड़ोस में मंदिर है भूल ही जाएंगे क्योंकि मंदिर भी मौन से नहीं पहचाना जाता मंदिर भी शोरगुल से पहचाना जाता है मौन जो है उसको तो हम भूल ही जाएंगे तुमने कभी ख्याल किया कि अगर कोई घर में तुम्हारे मौन हो जाए तो थोड़े दिन में तुम उसे भूल जाओगे कि वो है क्योंकि ना बोलेगा ना उपद्रव करेगा उपद्रव से पता चलता है बोलने से अलंगा डालता है बोलने से बीच में आता है दूसरों के रास्ते के आर पार पड़ता है बोलता ही नहीं तो मार्ग के बाहर हो जाता अगर कोई आदमी घर में बिल्कुल मौन हो जाए तो वो रहेगा भी और तुम उसे भूल जाओगे जैसे वो है ही नहीं हम भाषा से ही पहचानते हैं कि कोई है मंदिर है ऐसा लोग भूल गए सैकड़ों सन्यासी थे वहां आत्मज्ञान के दिए जलते थे समाधि के फूल खिलते थे फिर भी लोगों को पता ना रहा कि मंदिर है क्योंकि न तो आत्मज्ञान का दिया तुम्हें दिखाई पड़ता है न समाधि के फूल की सुगंध तुम्हें मिलती तुम्हें तो सिर्फ शोरगुल सुनाई पड़ता है तुम पागलपन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं समझ पाते इसलिए पागल तुम्हें बहुत ज्यादा होकर दिखाई पड़ता है और उसका कारण तुम वही समझ पाते हो तुम जो हो हमारी समझ हमसे ज्यादा कभी नहीं होती हो भी नहीं सकती तुम एक किताब पढ़ते हो उस किताब में तुम वही पढ़ पाते हो जो तुम पहले से ही जानते थे तुम उतना ही ज्ञान उस किताब में से लोगे जो तुम्हारे पास था ही नए को तुम पहचानोगे कैसे नए को तुम आत्मसात कैसे करोगे नए से तुम नए का तुम्हें पता ही नहीं चलेगा नए में तुम्हें शोरगुल ही मालूम नहीं होगा इस जगत में हम वही देख पाते हैं जो हम हैं वही पहचान पाते हैं जो हमारी पहचान है ये जगत हमारी सीमा से बंधा है मैंने सुना है एक संध्या मुल्ला नसुद्दीन अपने मनोवैज्ञानिक के पास गया बहुत चिंतित और परेशान और जाके उसने कहा बहुत हो गया अब कुछ करना ही पड़ेगा बहुत दिन टाला लेकिन न टाल सका मनोवैज्ञानिक ने पूछा क्या तकलीफ उसने कहा तकलीफ मुझे नहीं मेरी पत्नी को है उसे ख्याल हो गया है एक वहम सिर पर सवार हो गया कि वो रेफ्रिजरेटर पागलों को हो जाता तो उस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बना दे कि इसमें कुछ घबराने की बात नहीं और ये बड़ा निर्दोष वहम है इसमें हर्जा भी क्या है नसरुद्दीन ने कहा तुम समझे नहीं हर्जा है क्योंकि रात वो मुंह खोल के सोती और प्रकाश छोटा प्रकाश रेफ्रिजरेटर का रात भर जलता रहे तो मैं कैसे सो अब ये आदमी खुद पागल है लेकिन अपना पागलपन दूसरे में झलकता है हर आदमी दर्पण है उसमें हम अपनी ही शक्ल देखते हैं और ये दर्पण वो दर्पण थोड़े बहुत फर्क दर्पण में होते हैं कोई बेल्जियम का बना है कोई शुद्ध देसी है दर्पण में थोड़े बहुत फर्क होते हैं इसलिए थोड़ा बहुत शक्ल में फर्क मालूम पड़ता है लेकिन मौलिक अंतर नहीं आता शक्ल तो तुम्हारी ही रहेगी तुम एक मित्र को बदल के दूसरा मित्र कर लो एक पत्नी छोड़ दूसरा विवाह कर लो एक घर छोड़ के दूसरे घर में चले जाओ एक नौकरी छोड़ दूसरी नौकरी कर लो बहुत फर्क ना पड़ेगा क्योंकि हर जगह दर्पण रहेगा सकल तो तुम अपनी ही देखोगे इसलिए दुखी आदमी झोपड़े से महल में चला जाए तो भी दुखी रहता सुखी आदमी महल से झोपड़े में चला जाए तो भी सुखी रहता है क्योंकि सवाल दर्पण का है चेहरा तो तुम अपना ही देखोगे दर्पण छोटा हो बड़ा हो कीमती हो गैर कीमती हो टूटा फूटा हो लेकिन चेहरा तो तुम्हारा ही तुम देखोगे हम सब जगह अपने को ही देखते हैं हम उसी को पहचानते हैं जो हम जैसा है हम पागल हैं तो हमें पागलपन पहचान में आता है ये जो सोईची का मंदिर था इतना शांत हो गया कि लोग भूल ही गए कि वो है लोग उसके सामने से ही गुजरते होंगे उसमें हजारों भिक्षु थे वे भिक्षु भिक्षा मांगने बाहर जाते होंगे भीतर आते होंगे लेकिन वे बिल्कुल शांत थे वे मौन थे ध्यान उनके जीवन की एकमात्र शैली थी लोग उन्हें देखते भी होंगे फिर भी नहीं देख पाते होंगे क्योंकि अपना ही चेहरा हम देख सकते हैं लोगों को मंदिर दिखाई भी पड़ता होगा फिर भी दिखाई नहीं पड़ता होगा आंखों में तस्वीर तो बनती होगी भीतर पहचान नहीं आती होगी इसलिए बहुत बार ऐसा हुआ है बहुत बार क्या सदा ऐसा हुआ है कि इस जगत में जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति पैदा हुए हैं ध्यान के ध्यान ही जो पैदा हुए वो करीब करीब इतिहास के बाहर छूट गए बहुत लोग पूछते हैं कि बुद्ध के इतिहास में क्या प्रमाण है बहुत लोग पूछते हैं कि महावीर का इतिहास में क्या प्रमाण है इतिहास में ना के बराबर प्रमाण है क्योंकि ये मंदिर इतने सन्नाटे से भरे थे कि हमने कभी जाना भी नहीं कि ये हैं हमने कभी पहचाना भी कि नहीं ये है इतिहास में तो हम उसको लिखते हैं जिसको हम पहचानते हैं जानते हैं इतिहास में पागलों की कथाएं बड़ी मेहनत से लिखी गई हैं हिटलर हैं तैमूर हैं चंगेज हैं नेपोलियन हैं सिकंदर हैं इनकी इतिहास में कथाएं हैं विस्तार से सारा इतिहास पागलों से भरा पड़ा है तुम्हारा अखबार भी उसमें कभी तुम्हें कोई खबर मिलती कि कोई आदमी शांत है कि कोई आदमी शांत बैठा है किसी वृक्ष के नीचे बुद्ध अखबार के बाहर छूट जाएंगे लेकिन दिल्ली में जो सारे पागल इकट्ठे हो गए उनकी उंगली में चोट लग जाए कि किसी का जूता खो जाए कि किसी को छींक आ जाए वो सब अखबार में इतिहास बन रहा है इतिहास तो रोज बन रहा है यही कल इतिहास हो जाएगा इसमें बुद्धों का पता नहीं चलेगा इसमें जिन्होंने जितना शोरगुल मचाया और जितना उपद्रव खड़ा किया उनका पता चलेगा बुद्ध खड़े भी रहे तुम्हारे पास तो तुम नहीं देख पाते क्योंकि तुम पहचानोगे कैसे इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लेना हमारी चाह हमारी वासना ही पहचानती है जिस चीज की वासना होती उसी की पहचान होती अगर तुम घर की तलाश में हो तो रास्ते से निकलते वक्त सब जगह तुम्हें दिखाई पड़ेगा कौन कौन सा घर किराए पर है कौन कौन सा घर बिकाऊ है कहां कहां तख्ती लगी अखबार तुम पढ़ोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कौन कौन से घर बिक रहे हैं कौन कौन सा घर खाली तुम्हें घर की जरूरत नहीं अचानक ये सब खो जाएंगे इनका तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम वासनाग्रस्त हो तुम्हारी जो वासना है वो तुम्हें दिखाई पड़ेगा बुद्ध होने की वासना जब तक तुम्हारे भीतर ना हो तब तक बुद्ध तुम्हें कैसे दिखाई पड़ेंगे जिस दिन ये वासना होगी उस दिन तुम पाओगे जगत सदा बुद्धों से भरा है कभी खाली नहीं रहा सदा लोग रहे हैं जिन्होंने जाना है सदा लोग रहे हैं जिन्होंने सत्य को जिया है जिस दिन तुम्हारी प्यास जगेगी अचानक वे तुम्हें दिखाई पड़ने लगेंगे लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि अब कोई बुद्ध पुरुष नहीं मैं उनसे कहता हूं तुम जब भी होते तभी ऐसा होता मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ता था उस विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर थे एक बड़े कीमती इतिहास शास्त्री थे इतिहासज्ञ थे बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के आदमी थे बुद्ध की जयंती पड़ी तो वे बोले तो उन्होंने कहा कि कई बार मेरे मन में ऐसा उठता है कि कितना बड़ा सौभाग्य होता अगर मैं बुद्ध के समय में पैदा हुआ होता उनके चरणों में जाके बैठता तो मैंने उनसे खड़े होकर कहा कि शब्द आप वापस ले लें क्योंकि मुझे पक्का पता है आप उस समय थे वो थोड़े चौंके उन्होंने समझा कि मैं पागल और आप उस समय भी नहीं गए और मैं आपसे कहता हूं अभी भी बुद्ध पुरुष है आप उनके पास अभी भी नहीं जा रहे थोड़ी देर वो सोचते रहे उन्होंने कहा कि हो सकता है ये बात भी ठीक हो क्योंकि जैसा मैं हूं शायद मैं तब भी ना जाता तुम्हारी प्यास तुम्हारा होना ही तुम्हें कहीं ले जाएगा अगर तुम्हारे प्यास है तो तुम्हें मंदिर ही मंदिर दिखाई पड़ेंगे जहां तुम जाओगे और तुम्हारी प्यास नहीं है तो तुम्हें वैश्यालय दिखाई पड़ सकते हैं प्यासे को पानी दिखाई पड़ता है जिसकी प्यास नहीं उसे पानी दिखाई नहीं पड़ता वो मंदिर दिखाई पड़ना बंद हो गया और वहां बड़ी अनूठी घटनाएं घट रही थी जैसी कभी कभी घटती हैं वो मंदिर उस समय सारे जगत का केंद्र था जैसे वहां अनेक लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो रहे थे सोईची के पास चुप होना सीख रहे थे वहां समाधि के फूल खिल रहे थे लेकिन हमारी नाक उस सुगंध को पकड़ नहीं सकती वो सुगंध अपरिचित है नाक के पास से गुजर जाती है हमें उसकी कोई पहचान नहीं होती वहां दिए जल रहे थे आत्मज्ञान के लेकिन हमारी आंखें उसके लिए अंधी हैं वो प्रकाश हमें दिखाई नहीं पड़ता या वो प्रकाश इतना ज्यादा है तो उसे देख के हमारी आंखें बंद हो जाती हैं हम अपने अंधेरे में खो जाते उस प्रकाश को देखने के लिए आंखों की तैयारी चाहिए मैंने सुना है कि दो छोटे बच्चे एक लड़की और एक उसका छोटा भाई लड़की की उम्र रही होगी कोई आठ साल छोटे भाई की कोई छह साल वो दोनों रास्ते से गुजर रहे हैं भरी दोपहरी में तेज सूरज और वो जो छोटा भाई है दोनों आंखों को भींच के बंद किए हुए जैसे अपने खिलाफ खोलना चाहता है लेकिन ताकत लगा के बंद किए हुए और वो लड़की उसके हाथ को पकड़ के ले जा रही और एक स्त्री ने उन्हें देखा और उसने समझा कि कुछ गड़बड़ हो गई आंख को चोट लग गई इस बच्चे को क्या हुआ तो उसने पूछा कि क्या हुआ इस बच्चे की आंख को कोई चोट लग गई तो उस लड़की ने कहा नहीं चोट नहीं लगी ऐसा हम हमेशा ही करते हैं जब भी मैटनी सो सिनेमा देखने जाते तो पूछा हम समझे नहीं मतलब क्या है धूप इतनी तेज है ये छोटा भाई हमेशा ही जब मैटनी सो देखने जाते हैं तो ऐसी आंख बंद करके जाता है तो फिर हाल में सीट का नंबर खोजने में सुविधा रहती है ये वहां सीट का नंबर खोज लेगा इतना प्रकाश हो तो फिर अंधेरे में जाके कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता जो व्यक्ति संसार में बहुत आंखें खोल के चल रहा है वो संसार की चकाचौन से इतना परेशान हो जाता कि अगर बुद्ध के पास जाएगा तो वहां इस तरह की चकाचौन तो नहीं वहां तो बड़ा शांत प्रकाश है जिसको आलोक कहते प्रकाश नहीं आलोक बड़ा मधुर शब्द है उसमें चोट नहीं है आलोक उस क्षण होता है जब सुबह रात जा चुकी होती है और सूरज नहीं निकला होता उस समय जो प्रभात का प्रकाश होता है सूरज की त्वरा नहीं होती उसमें तेजी नहीं होती रात का अंधेरा भी नहीं होता सिर्फ हल्की आभा होती तो जो व्यक्ति संसार की रोशनी से बहुत बड़ा है बुद्ध के पास जाके वो देख ही नहीं पाएगा वहां उसे अंधेरा मालूम पड़ेगा अगर बुद्ध को देखना हो तो बाजार में थोड़ी आंख बंद करके चलना पड़े ताकि तुम जब बुद्ध के पास पहुंचो तो तुम्हारी आंखें बाहर के प्रकाश से इतनी ज्यादा पीड़ित न हो कि भीतर की आभा को पहचानना असंभव हो जाए घटनाएं वहां घटती थी लेकिन दिखाई नहीं पड़ती थी और अचानक लोगों ने एक दिन सुना कि मंदिर के घंटे फिर बज रहे हैं तभी उन्हें याद आया कि मंदिर है इतने दिन अंतराल पड़ गया था और शास्त्रों के सूत्र पढ़े जा रहे हैं तभी उन्हें समझ में आया कि अरे हम भूल ही गए थे कि पड़ोस में मंदिर वे भागे इतने दिन से वे मंदिर नहीं गए थे जबकि मंदिर जाने योग्य था तब वे चूक गए और जबकि अब मंदिर के प्राण उड़ चुके थे जबकि मंदिर अब खाली था तब वे भागे ऐसा अक्सर हुआ है हमेशा हुआ है शायद दुर्भाग्य कि हमेशा ऐसा ही होगा जब बुद्ध पुरुष खो जाते हैं तब तुम्हें खबर मिलती जब वे देह छोड़ देते हैं तब तुम्हें स्मरण आता तब तुम रोते हो छाती पीटते हो जब वे थे तब तुम्हें दिखाई नहीं पड़े या तुम्हें अगर मिल भी जाते रास्ते पर तो तुम बच के निकल गए या तुमने तरकीबें खोज ली या तुमने तर्क खोज लिए और तुमने अपना बचाव कर लिया बहुत कम लोग हैं जो जीवित पुरुषों बुद्ध पुरुषों के पास पहुंच पाते जब मर जाते तभी तुम्हें खबर मिलती तभी तुम्हें याद आती कह रहे कुछ था लेकिन तब सार नहीं है लोग मंदिर की तरफ भागे उन्हें याद आया कि हम इतने दिन से मंदिर भी नहीं गए और मंदिर जाना रोज का नियम था लेकिन घंटे ही बंद हो गए थे बजने शोरगुल ही नहीं होता था तो मंदिर भूल गया था वहां जाके शब्दों का सूत्रों का पाठ सुनाई पड़ा उन्हें फिर से लगा कि अब मंदिर जीवित हुआ आज मंदिर मर गया था पर आज उन्हें लगा कि मंदिर जीवित हुआ भीतर जाके उन्होंने देखा कि सोची ने संसार छोड़ दिया था उसकी देह पड़ी थी और उसके सौ पर ही सूत्र पढ़े जा रहे थे घंटे बज रहे थे और जैसे ही सोईची जैसे व्यक्ति संसार छोड़ते हैं कि जो भी वे चाहते थे उससे उल्टा होना तत्क्षण शुरू हो जाता जीवन भर सोची ने मंदिर बंद घंटे बंद करवा दिए थे सूत्रों का पाठ बंद हो गया था मरते ही पाठ फिर शुरू हो गया घंटे फिर बजने लगे बुद्ध पुरुष जो भी जीवन भर करते हैं उनके मरते ही तत्क्षण सब उल्टा हम शुरू कर देते क्योंकि मरने के बाद सब कारोबार हमारे हाथ में आ जाता अब मरा हुआ सोची तो नहीं कह सकता कि घंटे मत बजाओ मरा हुआ सोच जी तो नहीं कह सकता कि सूत्रों का पाठ क्यों कर रहे हो बंद करो मरा हुआ सोची तुम्हारे शोरगुल को बंद तो नहीं कर सकता अब और सारे धर्म इसी तरह निर्मित होते सभी धर्मों के नीचे सोची जैसे पुरुषों की लाशें पड़ी और जो उन्होंने कहा था ठीक उसके विपरीत परिणाम होते हैं बुद्ध ने कहा मेरी मूर्ति मत बनाना तो बुद्ध की मूर्तियां बनी उनकी पूजा बुद्ध ने कहा मेरे शब्दों को इस कंठस्थ मत करना बुद्ध का बड़ा प्रसिद्ध वचन कि मैं जो कहता हूं तुम इसलिए मत मानना कि मैं बुद्ध पुरुष मैं जो कहता हूं तुम इसलिए मत मानना कि शास्त्र सम्मत है मैं जो कहता हूं तुम इसलिए मत मानना कि मैं तर्क से प्रमाण देता हूं मैं जो कहता हूं तुम तभी मानना जब तुम्हारा अनुभव हो जाए तुम्हारे अनुभव के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं लेकिन बुद्ध के वचनों को लोग कंठस्थ कर रहे हैं दोहरा रहे हैं कोई जरूरत भी नहीं है उनका अर्थ जानने की कोई प्रयोजन भी नहीं है कि उन शब्दों में क्या छिपा है एक मृत प्रक्रिया शुरू होती और मृत प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी ले जाती अगर तुम धर्मों को ठीक से समझना चाहो तो तुम उन्हें उल्टा कर लेना जैसे वे हैं तब शायद तुम्हें ठीक बात समझ में आ जाए जो भी हो रहा हो मंदिर में सूत्र के पाठ पढ़े जा रहे हो तो समझना कि जरूर सूत्र के पाठ बंद कर देने से मंदिर का संबंध होगा घंटे बज रहे हो तो समझ लेना कि घंटे बंद कर देने से मंदिर का प्रयोजन होगा जो भी हो रहा है उससे उल्टा शायद सही हो लेकिन जो हो रहा है वो तो सही नहीं है पर ये स्वाभाविक है ये दुर्भाग्य है लेकिन स्वाभाविक है क्योंकि बुद्ध पुरुष के मरने के बाद कारोबार तो गैर बुद्ध पुरुषों के हाथ में ही आएगा इससे बचने का कोई उपाय भी नहीं बुद्ध पुरुष कभी होता हम सदा मौजूद हैं इंतजाम करने को जब तक वो जिंदा रहता तब तक भी हम इंतजाम करने की पूरी कोशिश करते सफल नहीं होती ये दूसरी बात है लेकिन उसके हट जाने पर तो फिर हम पूरा इंतजाम करते और वो इंतजाम निश्चित ही उल्टा होने वाला है इसमें हमारा भी कोई कसूर नहीं ये सीधी सी बात है कि उल्टा होगा बुद्ध ने कहा वेद व्यर्थ महावीर ने कहा वेदों में कुछ भी नहीं लेकिन महावीर के भक्त महावीर के वचनों को वेद जैसा ही पूछ रहे हैं वो समझ गए कि वेद में कुछ नहीं तो वेद कचरा है लेकिन महावीर के वचन वेद है तो क्या फर्क पड़ा महावीर ने जब कहा वेद व्यर्थ है तो वे यही कह रहे थे कि ज्ञान शब्द शास्त्र व्यर्थ है लेकिन जैनों ने समझा हिंदुओं के वेद व्यर्थ है अपना शास्त्र महावीर का वचन वो कैसे व्यर्थ हो सकता हिंदू के वेद में भी महावीरों के ही वचन लिखे हुए हैं वो भी बुद्ध पुरुषों के ही वचन है अगर वो व्यर्थ है तो तुम्हारे बुद्ध पुरुष के वचन सार्थक नहीं हो जाएंगे लेकिन हमारा मोह है ममता है तो हम वेद को फेंक सकते हैं लेकिन जिसने समझाया वेद को फेंको हम उसके वचनों को वेद की जगह रख के पूजा शुरू कर देते अज्ञानी आदमी की बड़ी तकलीफ है जैसे सीधी लकड़ी को पानी में डालो वो तिरछी दिखाई पड़ने लगती ऐसे जैसे ही बुद्ध पुरुषों के वचन अज्ञानी आदमी में प्रवेश करते एकदम तिरछे हो जाते तिरछे नहीं उल्टे हो जाते उनका शीर्षासन लग जाता सोईची जिंदगी में मौन था उसका मंदिर मौन था उसके शिष्य मौन थे शब्द छोड़ दिए गए थे भाषा का खेल बंद था तर्क का कोई प्रश्न नहीं उठता था कोई ऊहा पोह नहीं चलता था कोई विवाद नहीं था कोई सिद्धांत नहीं थे अचानक उसकी लाश पर सब सिद्धांत वापस लौट आए शास्त्र पुनरुज्जीवित हो गए सोयची मरा नहीं कि शास्त्र जीवित हो गए सोयची मरा नहीं कि शब्द पुनरुज्जीवित हो गए सोयची मरा नहीं कि मंदिर के घंटे बजने लगे यह निरंतर होता रहा है इसे तुम भी स्मरण रखना जितने दूर तक बन सके इसे दोबारा न होने देना जितनी देर तक स्मरण रह सके इसे स्मरण रखना लेकिन बड़ा कठिन करीब करीब असंभव है क्योंकि मन की प्रक्रिया के प्रतिकूल है मन पकड़ना चाहता है मौन को पकड़ा नहीं जा सकता शब्द को पकड़ा जा सकता है मन जब सोच ही मर जाएगा तो सोची की जगह कुछ रखना चाहेगा क्योंकि खाली जगह अखरती तो सोची के शब्द रख लेगा सूत्र बनाएगा पाठ करेगा कंठस्थ करेगा स्मरण करेगा ध्यान भर चूक जाएगा शायद यह भी हो सकता है कि जो वो सूत्र का पाठ करे उसमें सोची ने यही कहा हो कि ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो और वो इसका पाठ करेगा अभी एक युवक जापान से आया खोची है सरल है अमेरिका से जापान गया जेन सीखने अब तो जेन को जापान में खोजना भी मुश्किल है ध्यान को कहीं भी खोजना मुश्किल है वो सभी जगह से खो जाता है वो फूल इतना असंभव है कि कभी कभी खिलता है फिर खो जाता है और उसके बीच पड़ते हैं जमीन में फिर दोबारा नहीं उग पाते तब तो जापान में भी जेन के नाम पर धंधा है वो एक मोनिस्ट्री में गया और वहां उसने दीक्षा ली और वो जिन तो उसने पढ़ा तो किताबों में ये था कि सब किताबें व्यर्थ है जेन का प्राथमिक सूत्र यही है कि सब शास्त्र सब शब्द व्यर्थ है और शून्य होना एकमात्र प्रक्रिया है लेकिन वहां जब मनुष्य में दीक्षा ली तो बुद्ध के वचन हैं वो उसको कंठस्थ करने को दिए वो थोड़ा हैरान हुआ फिर भी उसने सोचा कि जो कहा जाए उसे करके देखना चाहिए वो छह महीने साल भर बीत गया और जापानी भाषा में बुद्ध का पूरा एक शास्त्र उसे याद करवा दिया वो उसका अर्थ भी नहीं जानता वो उसे बिल्कुल तोते की तरह दोहरा देता वो जब यहां मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा कि तू क्या सीख के लौटा तो उसने कहा लोटस सूत्र वो मैंने कंठस्थ कर लिया तुझे उसका अर्थ पता है अर्थ कहां से मुझे पता होगा वो जापानी में तो मैंने उसका तू उसे दोहरा वो फौरन खड़ा हो गया उसने आंख बंद कर ली और पूरा लोटस सूत्र दोहराने लगा उसे शब्दों का कोई पता नहीं उसे अर्थ का पता नहीं मगर उसे बिल्कुल कंठस्थ मैंने उससे कहा यह अच्छा है मैं एक ध्यान करवाता हूं जिबेरिस उसके काम आएगा यह अर्थहीन बकवास है और तू हैरान होगा कि इस पूरे सूत्र में बुद्ध यही दोहराते हैं कि सूत्रों में कुछ भी नहीं शब्दों में कुछ भी नहीं उन्हें छोड़ना उन्हें पकड़ना मत और किसी ने तुझे यही पकड़ा दिया यही मजे का मामला है हम ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो इस शब्द को भी कंठस्थ कर ले सकते हैं फिर हम सुबह रोज बैठ के सोच सकते हैं विचार कर सकते हैं पाठ कर सकते हैं ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो और ध्यान हम कभी ना करेंगे क्योंकि ये जो दोहराना है ये ध्यान में बात है सभी मंदिर सोयची की लाशों पर खड़े हैं सभी शास्त्र सोयची की लाशों पर पड़े हैं इस छोटी सी कहानी को ठीक से समझना और जीवित सोची का अनुकरण करना जीवित बुद्ध का अनुकरण करना उनके मरने के बाद क्या उनके चारों तरफ बन गया है उस जाल से बचना वही जाल हिंदू धर्म है वही जाल जैन धर्म है वही ईसाइत उस जाल को फाड़ना अलग करना पकड़ना जीसस को खोजना जीसस को सोची को बुद्ध को तब तुम पाओगे कि वहां सिवाय मौन के और कोई संदेश नहीं तुम्हारे मन के सब घंटे बंद हो जाएं तुम्हारे मन में चलते सब सूत्र पाठ बंद हो जाए तभी तुम्हारे मन के भीतर मंदिर का उदय होगा तभी तुम्हारे भीतर फूल खिलेंगे समाधि के तभी तुम्हारे भीतर दिए जलेंगे आत्मज्ञान के वो दिया जल ही रहा है वो फूल खिल ही रहा है तुम्हें उसका कोई स्मरण नहीं तुम किसी पाठ में खोए हुए हो रामतीर्थ एक कहानी कहते थे वो कहते थे एक प्रेमी प्रतीक्षा कर रहा है अपनी प्रेसी की वर्षों से दूर चला गया है न प्रेसी आ सकी उसके गांव तक न वो जा सका वापस बस पत्रों का ही नाता रह गया है शब्दों का प्रेसी दूर जैसे परमात्मा दूर और शब्दों का लेन देन है पत्र लिख देता है पत्र आ जाते पत्रों से क्या पता चलता है पत्रों से कोई प्रेम घट सकता है कि पत्रों से कोई प्रेम की चरमता कोई उत्कर्ष आ सकता है लेकिन पत्र मन को उलझाए रखते हैं भरे रखते हैं राह देखता रहता है पत्र की पत्र लिख देता है वर्ष पर वर्ष बीतते जाते अब तो उसे याद भी नहीं आता कि प्रेसी का चेहरा कैसा है अब तो उसे यह भी डर है कि वो जाएगा तो प्रेसी उसे पहचान पाएगी या नहीं और अब उसे एक नया भय भी समा गया क्योंकि वो प्रेसी को जो पत्र लिखता है वे सच्चे नहीं है जो बातें उसे ख्याल में आती हैं वो लिखता है अच्छी अच्छी बातें लिखता है लेकिन वे सच नहीं है वो अब भी कहता है कि तुम्हारे बिना एक क्षण जीना मुश्किल है लेकिन वो जी रहा है कुछ भी मुश्किल नहीं वो लिखता है कि तुम ही मेरे सपनों में छाई रहती हो लेकिन वो देखता है कि अब तो उसको चेहरा भी ठीक से याद नहीं आता सपने में छाने का कोई सवाल नहीं तब एक डर उसके मन में पकड़ता है कि कहीं प्रेसी के जो पत्र उसके लिए आते हैं उनमें भी यही बातें होती हैं कहीं यही हालत जो मेरी है वो प्रेसी की ना हो पत्र सब झूठे हो जाते हैं आज नहीं कल शब्द झूठे हो ही जाएंगे जो शब्दों पर बहुत निर्भर रहेगा वो झूठ में खोता जाएगा और शब्द बड़े चालाक हैं जब तुम लिखते हो तब तुम भूल ही जाते हो लिखते वक्त तुम्हें ऐसा लगता है कि बड़ा ठीक है शायद लिखते वक्त तुम जान के धोखा भी नहीं देते तुम किसी को पत्र लिखते हो लिखते हो कि काश तुम आ जाओ और यहां कुछ देर रहो तो बड़ा सुख हो और जिस दिन वो मेहमान सूटकेस लिए घर उतरता है उस दिन तुम्हारे चेहरे पर कोई सुख नहीं दिखाई पड़ा और जब तुमने लिखा था तो कोई जान के तुमने झूठ लिखा हो ऐसा नहीं है जब तुमने लिखा था तो तुमने सहजता से ही लिखा था शब्द झूठे हैं उनसे झूठ लिखने की जरूरत नहीं शब्दों के होने में झूठ है उनसे तुम कविताएं बना सकते हो और कविताएं बना के तुम खुद ही सम्मोहित हो सकते हो तो वो प्रेमी डरने लगा था कि जो मैं लिखता हूं कहीं ऐसा ही तो मेरी प्रेसी नहीं लिखती हो सकता उसको भी मेरा चेहरा भूल गया हो और एक दिन वो पत्र लिख रहा है वो लंबा लिखता जा रहा है और प्रेसी आ गई है उसने दरवाजा खोला तो दरवाजा अटका था प्रेमी को उसने देखा कि वो पत्र लिखने में लीन है दिए के पास झुका है तो वो द्वार पर ही बैठ के समझा कि कोई जरूरी काम कर रहा है वो पूरा कर ले तो फिर बाधा डाले वो प्रेसी को ही पत्र लिख रहा है वो द्वार पर सामने बैठी वो आंख नहीं उठाता प्रेमियों के पत्र लंबे होते चले जाते दस बारह पेज लिख के वो आंख उठाता है तो उसे भरोसा नहीं आता वो आंख मिल के देखता है तो भी उसे भरोसा नहीं आता वो कहता है क्या वो थोड़ा डरता भी क्योंकि ये कोई अपेक्षा ही नहीं है कि प्रेसी यहां आ जाएगी और वो प्रेसी कहती तुम इतने भयभीत क्यों दिखाई पड़ रहे हो तुमने मुझे पहचाना नहीं मैं मौजूद हूं तुम ना आ सके तो मैं थक गई तो मैं खुद चली आई हूं और वो प्रेमी रोने लगता है और वो कहता है तूने मुझे चौंकाया क्यों नहीं पहले क्यों ना क्यों ना कहा घंटों से तू बैठी और मैं तुझे ही पत्र लिख रहा हूं रामतीर्थ कहते थे परमात्मा के सामने जब हम शब्द लेकर खड़े रहते हैं तो हमारी हालत यही वो मौजूद है घंटों से नहीं सदा से वो द्वार पर ही बैठा है और हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रार्थना पत्र लिखने जैसी ध्यान उसको देखने जैसा है ध्यान का अर्थ है बंद करो शब्दों की बकवास सीधा देखो वो दरवाजे पर मौजूद है वो सदा से मौजूद है वो कभी गया ही नहीं था वहां से और तुम बड़ा शोरगुल मचा रहे हो घंटा बजा रहे हो धूप दीप जला रहे हो बड़ी प्रार्थना कर रहे हो और उसी की वजह से तुम चूक रहे हो देख नहीं पा रहे और तुम बड़े प्रसन्न हो कि परमात्मा को पत्र लिख रहे हैं ये प्रेम की जो पाती तुम लिख रहे हो यही तुम्हारी बाधा है तुम कृपा करो व्यस्तता छोड़ो ये घंटनाद बंद करो ये पूजा अर्चना हटाओ और देखो वो सामने मौजूद है वो सदा से मौजूद है प्रार्थना और ध्यान का यही अंतर है प्रार्थना फिर भी शब्द का दोहराना है ध्यान शब्द का छोड़ देना है इसलिए जो धर्म प्रार्थना पर खड़े वो ध्यान को समझ ही नहीं पाते और जो धर्म ध्यान पर खड़े वो हैरान होते हैं कि प्रार्थना से कोई कभी कैसे पहुंचेगा ईसाइत हिंदू यहूदी सब प्रार्थना पर खड़े हैं जैन बौद्ध सूफी हसीद ध्यान पर खड़े और दोनों के बीच बड़ी दरार है लेकिन जब मैं ऐसा कहता हूं कि जैन बौद्ध सूफी हसीद ध्यान पर खड़े हैं तो आप ही मत समझना कि आज के जैन ध्यान कर रहे हैं वो महावीर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं जिसने उन्हें ध्यान समझाया वो बुद्ध के सामने थाली लिए खड़े हैं आरती उतार रहे हैं जिसने उन्हें कहा कि ध्यान करो वो उसकी प्रार्थना कर रहे हैं वो कहते हैं गजब किया तुमने कि तुमने हमें ध्यान समझाया हम कैसे तुम्हारे अनुग्रह से और ऋण हो हम तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं और तुम ये मत समझना कि जब मैं कहता हूं हिंदू मुसलमान ईसाई प्रार्थना के धर्म है तो कृष्ण क्राइस्ट या मोहम्मद प्रार्थना के लोग थे वे ध्यान के ही लोग थे उन्होंने ध्यान करके ही जाना था परमात्मा को और जब परमात्मा को जाना तो धन्यवाद उनकी प्रार्थना धन्यवाद थी वो उन्होंने धन्यवाद दिया है जो मौन से जाना है उसे उन्होंने अनुग्रह में प्रकट किया वो नाचे आनंदित हुए प्रफुल्लित हुए और उन्होंने अस्तित्व को धन्यवाद दिया है बुद्ध महावीर धन्यवाद भी नहीं देते वे ध्यानस्थ हो गए हैं ध्यान ही उनका अनुग्रह भाव है वे धन्यवाद भी नहीं देते वे उतना भी शब्द का उपयोग नहीं करते लेकिन क्राइस्ट जरथुस्त्र मोहम्मद मूसा धन्यवाद देते ये व्यक्तियों पर निर्भर करेगा धन्यवाद तुम दे सकते हो चाहो ना दो परमात्मा की कोई अपेक्षा नहीं कि तुम धन्यवाद दो या ना दो ये तुम पर निर्भर है तुम्हारा ध्यान ही धन्यवाद हो जाएगा या तुम धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना कर सकते हो लेकिन प्रार्थना को ध्यान मत बनाना प्रार्थना ध्यान नहीं बन सकती शून्य से ही पहुंचा जाता है सोईची के मंदिर की तलाश करना और अगर वहां घंटनाद हो रहा हो शास्त्र का पाठ पढ़ा जा रहा हो तो समझना कि सोईची मर चुका है किसी और जीवित मंदिर की खोज करनी आज इतना ही you